परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि प्रेमी सज्जनों अभिविनय के दूसरे प्रकाश का दूसरा मंत्र परमात्मा की स्तुति हमें करनी चाहिए प्रत्येक आर्य का ये कर्तव्य है उस स्तुति का एक स्वरूप इस मंत्र में भी दिया गया यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का आठवां मंत्र स्तुति के माध्यम से स्तुति मंत्रों के माध्यम से हम परमात्मा के गुणों को और अधिक अच्छी तरह जानते हैं समझते हैं और तदनुरूप परमात्मा के प्रति अपनी भावना बनाने का यत्न करते हैं परमात्मा के स्वरूप को शुद्ध रूप में अपने मन में बैठाने का प्रयास करते हैं मंत्र में परमात्मा के बहुत से विशेषण दिए तो सह वह परमात्मा परि अगात सब ओर प्राप्त है पहुंचा हुआ है परि का अर्थात परितः सब ओर से सर्वत्र और गमनार्थक इन धातु से अगात वो वहां पर पहुंच चुका है पहले से पहुंचा हुआ है अभी भी पहुंचा हुआ है वो पहले से सर्वत्र विद्यमान है कहीं से चल के फिर कहीं पहुंचा हो इस रूप में नहीं जहां जहां भी हम जाएंगे जहां जहां भी हम जाते हैं वहां वहां वो पहले से पहुंचा है भली प्रकार प्राप्त है हम परमात्मा को किसी भी स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा हमें सर्वत्र देख रहा है हम परमात्मा की स्तुति प्रार्थना सर्वत्र कर सकते हैं क्योंकि वो परि अगात सब जगह पहुंचा है प्राप्त है आर्य इस भावना को मन के अंदर विद्यमान रखता है ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए आगे कहा परमात्मा कैसा है शुक्रम वह शुक्र है शुक्र का एक अर्थ किया जाता है कि वो बहुत शीघ्रकारी है और दूसरा वो बहुत बलवान है परमात्मा के जितने भी कार्य हैं बहुत शीघ्रता से होते हैं जितनी शीघ्र वो हो सकते हैं वो उतनी शीघ्रता से होते हैं और परमात्मा उन सबको करने में समर्थ है बलवान है बल वाला है जिन कार्यों के विलंब से होने की प्रतीति हमें होती है वे कार्य परमात्मा की शिथिलता से या आलस्य से विलंब से नहीं होते वो वैसे ही होने होते हैं प्रकृति की अपनी सीमा है हमें भोग भोगने की अपनी सीमा है एक क्रम होता है नहीं तो परमात्मा की दृष्टि से कोई विलंब वहां पर नहीं होता परमात्मा जो कुछ भी करना चाहता है वो बहुत शीघ्रता से कर देता है तत्काल कर देता है तत्काल कर सकता है और ऐसी उसमें सामर्थ्य है तो परमात्मा शुक्रम है आगे कहा अकायम वो काय से रहित है काया शब्द हिंदी में भी प्रचलित है इस देह को शरीर को काया शब्द से काय शब्द से कहा जाता है इसको काय क्यों कहते हैं क्योंकि इसका चयन होता है ये चुना जाता है चीयते इति काया इसका उपचय होता जाता है एक कोशिका से एक शिशु बन जाता है शिशु से वो और बढ़ता जाता है युवा बन जाता है विकास को प्राप्त होता है ये क्यों होता है कैसे हो जाता है क्योंकि शरीर में उपचय होता है कोशिकाएं बनती जाती हैं एक के बाद एक एक के बाद एक कई गुना बहुत अधिक संख्या के अंदर बढ़ती जाती है और युवावस्था के बाद जब क्षय प्रारंभ होता है अथवा रुग्णावस्था में क्षय प्रारंभ होता है तब वृद्धि कम होती है क्षय अधिक होता है इसलिए हमें प्रतीति होती है कि क्षीण हो रहा है लेकिन वृद्ध व्यक्ति में भी रुग्ण व्यक्ति में भी क्षय की प्रक्रिया सतत चलती रहती है इसी तरह बच्चे जो कि एकदम तेजी से बढ़ते हुए दिखते हैं हर साल कुछ बढ़ते दिखते हैं हमें वहां भी क्षय की प्रक्रिया सतत होती रहती है लेकिन वहां पर चय अधिक होता है इसलिए वो बच्चा या वो शरीर बढ़ता हुआ दिखता है तो ये जो बढ़ने वाला शरीर है परमात्मा इससे रहित है वो किसी शरीर में नहीं आता सर्वव्यापक होने से परि अगात होने से वो सब शरीरों में है किंतु ये शरीर उसके भोगायतन नहीं है वो सर्वत्र व्यापक परमात्मा इस छोटे से शरीर में केवल इस शरीर में आ भी कैसे सकता है समा भी कैसे सकता है शरीर तो छोटा सा है जो परमात्मा कभी छोटा नहीं होता सतत सर्वत्र फैला हुआ है सदा वो छोटा सा हो कैसे सकता है वो संकुचित हो कैसे सकता है आत्मा तो एक देशी अणु है वो शरीर में आ सकता है लेकिन परमात्मा तो नहीं आ सकता महर्षि ने इसके लिए बात लिखी कि वो देह धारण कभी नहीं करता उससे अधिक पदार्थ नहीं है उससे अधिक पदार्थ नहीं है इसका अकायम के संदर्भ में क्या प्रसंग था कि उससे अधिक कोई पदार्थ नहीं है हमें ये सृष्टि कितनी भी बड़ी दिखाई देती हो अनंत दिखाई देती हो लेकिन परमात्मा उससे भी बड़ा है परमात्मा को भी पुरुष कहा गया आत्मा को भी पुरुष कहा गया ये पूरी में शयन करता है आत्मा रहता है विराम करता है विश्राम करता है इसलिए इसको शरीर कहा गया उसको पुरुष कहा गया ये पूरी है और उस पूरी में ये रहता है इसलिए उसको पुरुष कहा गया आत्मा को और परमात्मा को भी पुरुष कहा गया क्योंकि वो इस समस्त जगत के कार्य जगत रूपी पुर में रहता है इसलिए उसको पुरुष कहा गया ये समझाने के लिए केवल बात कही गई है किसी के मन में ये आए कि परमात्मा इस प्रकार के शरीर से तो रहित है जिस प्रकार के शरीर से युक्त आत्मा होता है मनुष्य शरीर या पशु पक्षी का लेकिन ये सारा संसार तो परमात्मा का शरीर है वेद भी इसी दृष्टि से कहता है और इसलिए परमात्मा को पुरुष कहा जाता है तो सारा संसार तो परमात्मा का शरीर कहा जा सकता है कि उसका काय कहा जा सकता है परमात्मा इसमें रहता है तो महर्षि एक तर्क युक्ति यहां पर रख रहे हैं उससे अधिक पदार्थ नहीं है उससे बड़ा कोई पदार्थ नहीं है जब हम आत्मा और शरीर की स्थिति देखते हैं तो शरीर हमेशा आत्मा से बड़ा होता है आकार प्रकार में कहीं भी कोई शरीर है काय है वो आत्मा से बड़ा ही होगा क्योंकि काय होता ही तब है वो सर्वत्र यही देखा जाता है तो जब परमात्मा से अधिक कोई पदार्थ ही नहीं है और सारे पदार्थ मिलकर के भी कार्य जगत कारण जगत सब मिलकर के भी परमात्मा से बड़े नहीं हो सकते हैं नहीं तो ये सब परमात्मा के वैसे शरीर कैसे हो सकते हैं जैसे हमारे शरीर हैं ये परमात्मा के शरीर हो ही नहीं सकते शरीर में वो चेतन तत्व समाना चाहिए पूरा पूरा परमात्मा किसी भी शरीर में किसी भी जड़ पदार्थ में पूरा समा ही नहीं सकता इसलिए महर्षि ने कहा उससे अधिक पदार्थ नहीं है इससे ईश्वर का शरीर धारण करना कभी नहीं बन सकता लोक में परमात्मा को शरीर धारण करने वाला कहते हैं उसका स्पष्ट निषेध इस मंत्र से परमात्मा के द्वारा स्वयं होता है आगे कहा अव्रणम जैसे हमारे शरीर में घाव हो जाते हैं व्रण हो जाते हैं छिद्र हो जाते हैं जो हमारी त्वचा या शरीर की संरचना चल रही थी वो कट जाती है वहां पर उस जगह पे उसका विच्छेद हो जाता है टुकड़ा होता है क्रम भंग होता है ऐसा परमात्मा में कहीं नहीं होता परमात्मा में यदि कहीं छिद्र माना जाए तो परमात्मा के सातत्य का वहां भंग मानना होगा कि उस छिद्र से पहले तक परमात्मा था उस छिद्र के बाद में भी परमात्मा है लेकिन जिस जगह छिद्र है वहां परमात्मा नहीं है इसलिए महर्षि ने यहां पर लिखा अप्रणम का वह अखंड एक रस अखंड है खंड कहीं नहीं है एक रस है एक जैसा है सब जगह अच्छे दे काटा नहीं जा सकता उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको तोड़ा नहीं जा सकता अभेद्य निष्कंप और अचल है क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है उसमें कोई कंपन भी नहीं है अचल है जैसा है वैसा है जैसे पर्वत स्थिर है अपनी जगह पे ऐसे परमात्मा अपनी जगह स्थिर है तो उसमें व्रण नहीं है अव्रणम आगे कहा अस्नाविरम स्नाविर कहते हैं बंधनों को स्नायुओं को जैसे हमारा शरीर अंदर विभिन्न स्नायुओं से बंधा हुआ है ये संधियां ये जोड़ मांसपेशियों से घिरे हैं मांसपेशी के सिरे यहां पर बंधे हैं और उनके बंधे होने से ये ठीक चलते हैं बिखरती नहीं है हड्डियां जोड़ इस प्रकार से परमात्मा किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है किसी ने बांध करके उसको स्थिर अचल बना रखा हो ऐसा बांध रखा हो जिससे कि वो टूट ना सकता हो उसमें छिद्र ना हो सकता ऐसा किसी ने यूं अच्छी तरह बांध के रख रखा हो ऐसा नहीं है अस्नाविरम आगे कहा शुद्धम वो पवित्र है अविद्या आदि दोषों से रहित है अविद्या एक मल है उससे रहित है और इसी कारण से आगे कहा जन्म मरण हर्ष शोक क्षुधा तिशा आदि दोषोपाधियों से रहित है और परमात्मा को जब हम शुद्ध रूप में देखते हैं तो शुद्ध का उपासक भी शुद्ध होता है और जो मलिन का उपासक होता है वो मलिन होता है उपासकों के रूप में विभिन्न उपासक देखे जाते हैं और वो विभिन्न उपास्यों को भसते रहते हैं उनके अंदर दोष भी देखे जाते हैं यदि कोई मनुष्य है तो उसमें कोई ना कोई दोष होगा तो जो दोषयुक्त की उपासना करेगा वो स्वयं भी दोषयुक्त बनेगा परमात्मा शुद्ध है और उस शुद्ध की उपासना जब हम करते हैं तो हमारे में भी शुद्ध शुद्धता आती है आगे कहा अपाप विद्धम परमात्मा पाप नहीं करता पाप से विंधा हुआ नहीं है युक्त नहीं है उसके लिए महर्षि ने खोला परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता है अर्थात अन्याय करना एक पाप है जो अन्याय करता है वो पाप करता है और अन्याय दूसरों के साथ में किया जाता है व्यवहार में अन्याय हम दूसरों के साथ में करते हैं पक्षपात युक्त व्यवहार करते हैं तो परमात्मा अन्याय क्यों नहीं करता क्योंकि वह सदैव न्यायकारी ही है वो न्याय ही करता है इसलिए अन्यायकारी हो ही नहीं सकता और इस कारण से वो पाप से रहित है हमें भी यदि पाप से रहित होना है तो हमें न्याय करना होगा और जहां जहां हमारा पाप बनता है वो वो वो स्थल होते हैं जहां हमारे द्वारा अन्याय किया गया होता है पाप होता ही तब है जब हम दूसरे के प्रति अन्याय करते हैं आगे कहा कवि ही वो परमात्मा कवि है क्रांत दृष्टा है कवि शब्द मेधावी के नामों में निघंटू में पढ़ा है मनीषी शब्द भी मेधावी नामों में पढ़ा है कबीर मनीषी तो कवि उसे कहते हैं जो बोलता है बताता है क्रांत दृष्टा होता है किसी बात को और छोर से आगे पीछे से पूरा जानता है सर्वज्ञता से जानता है जो लौकिक मनुष्य कवि कहलाते हैं वो भी विभिन्न चिंतन करके बोलते हैं कुछ कुंक शब्दे इस धातु से कवि शब्द बनता है कौती इति कवती व कवतेर व वो बोलता है जो चिंतन करता है बोलेगा वो जो कुछ सोचता है चिंतन करता है कुछ जानता है वो ही बोलेगा और कौन बोलते हैं कवि लोग जैसे बोलते हैं ज्ञानी लोग जैसे बोलते हैं तो परमात्मा भी कवि है क्रांत दृष्टा है और मनीषी मन का वो स्वामी है इस संसार के समस्त मनुष्यों के प्राणियों के जो मन है उन सब का वो स्वामी है उन पर अधिकार भी रखता है वो सबके मन को जानता भी है मनीषी शब्द के सर्वेशम मनसाम ईशी साक्षी ज्ञाता इति सबके मन का वो ज्ञाता है साक्षी है ईशी है और नियमन भी करता है ऐसा वो परमात्मा सतत हमारे मन को हमारे प्रत्येक विचार को जानता रहता है सतत जानता है वो मनीषी ऐसे ने लिखा सब जीवों के मन विज्ञान का साक्षी और साथ में कहा सबके मन का दमन करने वाला वो मन का दमन भी कर देता है मन एक इंद्रिय है अथवा ज्ञान बुद्धि परमात्मा ने हमें प्रयोग के लिए दी है किंतु ये अधिकार परमात्मा के पास फिर भी सुरक्षित है वो जब चाहे किसी के मन को बुद्धि को ज्ञान को रोक सकता है उसका नियमन कर सकता है वो चाहे जब उस आत्मा को उसके ज्ञान से रहित कर सकता है और वो मन में हमारे प्रेरणा देता है वो तो है ही लेकिन परमात्मा मन को नियंत्रित कर सकता है हमारे हाथ को भले ही नियंत्रित ना करे वो हमारी जीप को भले ही नियंत्रित ना करे लेकिन हमारे मन को नियंत्रित कर सकता है और मन के नियंत्रण से सबको नियंत्रित कर सकता है वो हाथ पैर जिब्वा कुछ भी जो हम करते हैं जब उसे नियंत्रित करना होगा वो करते कहा हमें नियंत्रित आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से तो परमात्मा मनीषी है मन का दमन करने वाला भी है परिभू और सब जगह वो है परिभू भवती सब जगह होता है विद्यमान है और परी का एक अर्थ ऊपरी ऊपर ये भी महर्षि ने किया कि सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है और सबके ऊपर विराजमान है देश की दृष्टि से सब जगह है इसलिए हमारे ऊपर भी है किंतु यहां ऊपर का मतलब साथ में है अधिकारी के रूप में एक शासक के रूप में एक राजा के रूप में एक नियंत्रक के रूप में वो हमारे सबसे ऊपर विराजमान है उसके ऊपर कोई भी विराजमान नहीं है वो किसी को कुछ भी नियंत्रित कर सकता है वो ही सबको चलाता है उसको कोई नहीं चला सकता तो परमात्मा परिभू है सबके ऊपर विराजमान है आगे कहा स्वयंभू ये जो इतना इन इन गुणों वाला परमात्मा है एक था मनुष्यों में प्रश्न आ जाता है कि इसको भी तो कोई बनाने वाला होगा इसको भी तो किसी ने बनाया होगा तो उसके लिए लिखा स्वयंभू उसको किसी ने बनाया नहीं है वो स्वयं अपने आप विद्यमान है इन सब गुणों से युक्त सर्वत्र सदा से विद्यमान है स्वयंभू इसको महर्षि खोलते हैं जिसका आदि कारण माता पिता उत्पादक कोई नहीं किंतु वही सबका आदि कारण है जितने भी कार्य जगत है जितना भी कार्य जगत है जितनी कार्य वस्तुएं हैं जितने प्राणी हैं जीव जंतु हैं उन सब का आदि कारण परमात्मा है और भी विभिन्न चीजें कारण बनती हैं लेकिन मूल कारण आदि कारण परमात्मा है और परमात्मा ने क्या किया क्या वो करता है याथा तथ्यतः अर्थान वेदधात यथा तथ्य जैसा है वैसा उसके भाव को याथा तथ्य उससे याथा तथ्यतः अर्थान इन समस्त जगत को वस्तुओं को वेदधात उसने धारण किया है बनाया है जैसी ये बन सकती थी यथा योग्य वैसे ही बना करके रखी है वैसी ही उसने बनाई है वैसी ही वो बनाता है और किन के लिए शाश्वती भ्य समाभ्य जो शाश्वत सदा रहने वाली है उस समा के लिए समाभ्य प्रजाभ्य महर्षि ने अर्थ किया ऐसी प्रजा जो हमेशा बनी रहती है उसके लिए ये परमात्मा ने यथा रूप जैसा बनना चाहिए वैसा बनाया है आत्मा अपने आप में नित्य है वो सदा बनी है किंतु जिस प्रजा के लिए ये सब चीजें उसने दी हैं ये वो प्रजा है जो जीवन धारण करती है शरीर को धारण करती है और ये सतत है प्रवाह से सतत चलता रहता है यद्यपि प्रलय में ये सब नहीं होता लेकिन फिर चलता है यद्यपि मुक्ति काल में वो आत्मा इस रूप में परमात्मा की प्रजा नहीं होती कि उसके लिए ये सारे संसार को वो बनाए किंतु मुक्ति के बाद में फिर वो उसके लिए सदा प्रजा है उसके लिए वो बनाता ही रहता है ऐसा वो परमात्मा उसने बड़ी कृपा करके ये चारों वेदों का ज्ञान हमें दिया है महर्षि ने लिखा कि जब उसने ये वस्तुएं दी हैं तो उनसे संबंधित ज्ञान क्यों नहीं देगा वो वेद ज्ञान क्यों नहीं देगा विद्या का उपदेश ईश्वर ने अपनी कृपा से किया है क्योंकि हम लोगों के लिए उसने सब पदार्थों का दान किया है दान दिया है तो विद्या दान क्यों न करेगा तो ज्ञान का भी परमात्मा दान करता है और इसी संदर्भ में महर्षि ने लिखा कि वो सर्वोत्कृष्ट विद्या पदार्थ का दान परमात्मा ने अवश्य किया है जब ये अवश्य अवश्य किया है तो वेद के बिना अन्य कोई पुस्तक संसार में ईश्वरोक्त नहीं है क्योंकि जैसा पूर्ण विद्यामान और न्यायकारी ईश्वर है वैसा ही वेद पुस्तक भी है वेद में जो भी बात है वो विद्या से युक्त है और जो भी विधान है वो न्याय युक्त है न्याय को ही पुष्ट करते हैं उस तरह से चलना न्याय करना है अन्य कोई पुस्तक ईश्वर कृत वेद तुल्य या अधिक नहीं है तो किन्हीं को कुछ पूछना हो मंत्र में रामदेव जी परमात्मा ने मन को अंतकरण को आत्मा के लिए दिया है और आत्मा स्वतंत्रता से उसका उपयोग कर भी सकता है वो कर्म की स्वतंत्रता दी है उसने किंतु यदि कहीं नियंत्रण करना हो तो नियंत्रित कर लेता है परमात्मा यदि नियंत्रित करना चाहे तो नियंत्रित कर सकता है ये विकल्प हमें मानना होगा वेद का प्रमाण मिल रहा है और परमात्मा हमें बीच बीच में इस रूप में फल देता रहता है यानी एक बार प्रश्न उठता है कि परमात्मा किस तरह से हमें बीच में फल देता है कर्मों का सीधे रोटी लाके नहीं देता सीधे पानी नहीं पिलाता हमारे वस्त्र आदि शुद्ध नहीं करता हमारे को औषधि ला करके नहीं देता हम गिर गए हों तो हमें पकड़ करके उठाता नहीं है शरीर से कैसे सहयोग करता है तो एक ही तरीका प्रतीत होता है कि वो अंदर मन में हमें ऐसी स्थिति बना देता है सत्वर स्तंभ की स्थिति को ऐसी उभार देता है या नीची कर देता है उन साधनों की क्षमता को कम कर देता है उन साधनों की क्षमता को बढ़ा देता है उससे हमारे निर्णय बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और हम अच्छा बुरा करते रहते हैं कर्म की स्वतंत्रता फिर भी हमारी है हमारे बुद्धि का मन का स्तर ऊंचा नीचा जो भी हो रहा हो लेकिन उसका उपयोग करना न करना मिथ्या करना ये फिर हमारे ऊपर ही निर्भर है इसलिए हमारी कर्म में कर्म फल में कोई बाधा वो नहीं डालता है वो कर्मानुरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है नहीं तो फिर तो फल भोगने में भी हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएंगे अथवा जन्म के समय कुछ उसने दे दिया बाकी जीवन में वो कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता हमें कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी फल भोगने में परतंत्र हैं हम और वो परमात्मा के अधीन है परमात्मा का अधिकार है वहां यथा योग्य न्याय पूर्वक नियंत्रण करेगा तो इस रूप में कोई बाधा नहीं है आत्मा की स्वतंत्रता भी बनी हुई है लेकिन परमात्मा उसको नियंत्रित कर सकता है जैसे हम प्रकाश को ये विद्युत है हम चाहे तो कम कर देते हैं चाहे तो बढ़ा देते हैं आवाज को हम चाहे तो घटा देते हैं बढ़ा देते हैं उसी प्रकार से चित्त की स्थिति को मन की स्थिति को वो नियंत्रित कर लेता है किन संस्कारों को उभारना है वो कर सकता है और उसके आधार पर चूंकि साधन हमारे क्षीण हो गए तो हमारे निर्णय भी वैसे ही होंगे हमारी सक्रियता उतनी होगी हम आलस्य में रहेंगे और यदि साधन अच्छे हैं तो हम सक्रिय रहेंगे जागरूक रहेंगे शीघ्रता से निर्णय करेंगे ठीक निर्णय करेंगे और इस रूप में हमें बहुत लाभ मिलता है अथवा विपरीत हो तो बहुत हानि भी होती है कश्यप जी त्रैकालज्य हाँ हाँ तो कभी का त्रैकालज्य और कोष्ठक में सर्ववित्त ये भी अर्थ महर्षि ने किया है इनका प्रश्न है कि परमात्मा त्रिकालज्य कैसे है तीन काल हैं भूत भविष्य और वर्तमान परमात्मा तीनों कालों की बातों को जानता है प्रकृति में जो चीजें आगे होने वाली हैं उन्हें परमात्मा जानता है और त्रैकालज्य का मतलब सर्ववित वो पूरी तरह जानता है जो इस समय जैसी है उन सबको जानता है और जो जिनकी संभावनाएं हैं उन सबको भी पूरा पूरा जानता है भविष्य की भी हम भी बहुत सी भविष्य की चीजें जानते हैं हम भी कभी वृद्ध होकर के मर जाएंगे हम जानते हैं भविष्य की जानते हैं सूर्य शाम को फिर अस्त हो जाएगा अंधकार हो जाएगा फिर से रात्रि आ जाएगी इस भविष्य की बात को हम भी जानते हैं ये मकान भी कभी क्षीण हो जाएगा एक पौधा रोपा है ये बड़ा होकर के फल देगा छाया देगा ये हम जानते हैं ऐसी बहुत सारी बातें हैं भविष्य की हम भी जानते हैं लेकिन हम बहुत कम जानते हैं परमात्मा सब चीजों के भविष्य को जानता है जो जो भी वस्तुएं हैं किस रूप में बदलती हैं कैसे बदलेंगी वो सब जानता है लेकिन इसमें एक अपवाद हमें रखना होता है कि आत्मा जिन विचारों को करेगा जिन कर्मों को करेगा उसमें परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है हमारे पास स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता है इसका मतलब है हम कब कौन सा विचार करेंगे भविष्य में ये निश्चित नहीं है हम कब कौन सा कर्म करेंगे ये निश्चित नहीं है पूरा ये ठीक है कि हम क्या क्या विचार सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं इस संभावना को वो पूरी तरह जानता है लेकिन कौन सी आत्मा कब क्या सोचेगी और कब क्या करेगी आज करेगी कल करेगी कम वेग से करेगी अधिक वेग से करेगी अच्छा करेगी बुरा करेगी ये निश्चित नहीं है क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता भी है तो उस भाग को त्रिकालज्यता में न लेकर के बाकी जो चीजें हैं प्रकृति की सारी इतनी गतिविधियां हैं सबका उसको पता है तो उस रूप में उसको त्रिकालज्ञ है और तीनों कालों को भी जानता है तीनों कालों में होने वाली हो चुकी हो रही वस्तुओं के बारे में जानता है क्या क्या क्या होगा इस रूप में परमात्मा त्रिकालज्ञ है और ये सर्वज्ञता को बताता है ये सर्वविथ है हमारे हम कम जानते हैं इसलिए ज्यादा जानता है ठीक है विशेष यही है कि हम सब चीजों को नहीं जान पाते हम तो बहुत कम जानते हैं हम तो बहुत कम जानते हैं अपने बारे में अपने शरीर के बारे में अपने मन के बारे में जिन चीज का हम उपयोग करते हैं जिनके साथ रात दिन है उन तक को नहीं जानते हम तो पूरी तरह हम अपने आस पड़ोस वालों को व्यक्तियों को पूरी तरह नहीं जानते हमारी अल्पज्यता कितनी है कितनी अधिक है यानी बहुत कम जानते हैं उसकी तुलना में वो बहुत अधिक जानता है ये भिन्नता है इसलिए वो सर्ववित है वो त्रिकालज्य होते हुए सर्ववित है सब चीजों को जानता है ये तो बहुत बड़ी भिन्नता है हम सब मिलकर के भी वो नहीं जानते जितना वो अकेला जानता है हम हम सबके ज्ञान भिन्न भिन्न भी हैं समान भी हैं सब मिला भी दें जितना भी ज्ञान है उससे भी वो बहुत अधिक जानता है उसके सामने वो भी बहुत कम है समझे जी दूसरा अकाई कहने की बात आया है कि शुक्रम और अस्मरण तीसरा उसने कहा स्वामी जी कि जो सूक्ष्म होता है उसका कोई आवरण नहीं होता हाँ। तो सूक्ष्म का छोटे का ही आवरण होता है सूक्ष्म का समय तो भी नहीं तीसरा में रामजन और इसलिए गिरजाघरों में स्वामी जी को जो

ठीक है वो भी एक भाषा है कि आपके ही वश में है क्योंकि सारी चीज परमात्मा के वश में है लेकिन उन्होंने हमारे भी वश में कर रखी है ये हमारा भी कुछ नियंत्रण कर रखा है वो भी है लेकिन हमारा ही नियंत्रण है केवल उसके निषेध के लिए यह है कि परमात्मा का भी यहां पर नियंत्रण फिर भी विद्यमान है तो एक तो आपका पहला प्रश्न था कि शुद्धम कहते हुए भी विद्धम क्यों कहा तो शुद्धम का अर्थ महर्षि ने किया वो अज्ञान से रहित है अविद्या से रहित है अविद्या ही मूल मलिनता है उससे रहित है ये एक बात कह दी गई और अपाप विद्धम का अर्थ किया कि वो अन्यायकारी नहीं है तो अन्याय करना अलग बात है और अज्ञान का होना अलग बात है दो अलग अलग बातें कही गई इसका मतलब आप दोनों में कारण कार्य संबंध मान रहे हैं ना कि अज्ञान होगा ही नहीं तो अन्याय भी नहीं होगा ठीक है यहां ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है एक के होने से दूसरा नहीं होता ठीक है आपकी बात उसका कोई निषेध नहीं किया गया लेकिन दोनों बातें कही जा सकती है ना आकाश में बादल है बारिश हो रही परमात्मा अविद्या से रहित है ये भी एक कथन है और न्यायकारी भी है अन्यायकारी नहीं है ये दो अलग अलग ढंग से बात कही जा सकती है कारण कार्य संबंध है इसका मतलब है अलग अलग हैं ही दोनों दोनों रूप से कही जा सकती है कि भाई ये दूध शुद्ध है गाय का पवित्र है लाभकारी है ये रोगों को उत्पन्न नहीं करता तो ये कथन किया जा सकता है हम कहें कि जब आपने इसको पवित्र और लाभदायक बता ही दिया फिर ये क्यों बोल रहे हो कि रोगों को उत्पन्न नहीं करता है तो परमात्मा शुद्ध है और अन्याय भी नहीं करता है दोनों दो बातें अलग अलग कह दी गई हैं दूसरा प्रश्न आपका था कि अव्रणम और अस्नाविरम क्यों कहा जब अकायम ही कह दिया कि उसके शरीर नहीं है और जिसका शरीर ही नहीं है तो उसके घाव कहां से हो सकते हैं व्रण कहां से हो सकते हैं जो शरीर रहित है वो भी छिद्र युक्त हो सकता है व्रण को केवल शरीर के साथ ही ना जोड़ें जैसे ओजोन मंडल में परत के अंदर छिद्र हो गया ये बात कही गई परमात्मा भले ही शरीर को धारण नहीं करता लेकिन सर्वत्र विद्यमान है उसमें बीच में कहीं अवकाश है जहां वो नहीं है ऐसा कोई क्षेत्र है एक गेंद की तरह से कोई छोटी सी जगह है जहां पर कि वो नहीं है कोई एक स्थान हो जहां वो नहीं है ऐसा वर्ण छिद्र सतत प्रवाह सातत्य का टूटना वो भी नहीं है अकाय में भी टूटन हो सकती है जो शरीर धारण नहीं करता जिसका शरीर नहीं है उसमें भी बीच में विच्छेद हो सकता है वो परमात्मा वो भी नहीं है और उसमें छिद्र नहीं है वो बिल्कुल ठटास ठसा ठस परिपूर्ण है तो कोई सोचे जैसे कहीं उसने बांध दिया हो किसी ने उसको इसलिए वो बिखर नहीं रहा है इसलिए वो काटा नहीं जा सकता है कोई ऐसा सोचे बोले अस्नाविनम वो बंधा हुआ भी नहीं है किसी से किसी ने उसको बांध रखा हो और इसलिए वो पृथक पृथक नहीं हो रहा हो जैसे लकड़ियां हो इधर उधर बिखरती हैं और उसको बांध दिया तो अब वो बिखरती नहीं है ऐसे परमात्मा को स्नायुओं से नाड़ियों से किसी ने बांध रखा है संगठित कर रखा है इसलिए बिखर नहीं रही है रुई की गांठ को जैसे बांध देते हैं किताबों को जैसे पैकेट में पट्टियां लगा के बांध देते हैं तो बिखरती नहीं है ऐसे किसी स्नायु से उससे परमात्मा बंधा हुआ हो इसलिए वो बिखर नहीं रहा हो बोले नहीं कोई बंधन भी नहीं है उसको किसी से बंधा हुआ नहीं है वो और फिर भी अखंड है एक रस है तो इसलिए इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है तीसरा आपका प्रश्न था कि महर्षि ने लिखा अति सूक्ष्म होने से ईश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता इनका कहना है कि जो सूक्ष्म चीज होती है उसी का ही तो आवरण होता है जो विस्तृत चीज होती है उसका तो क्या आवरण होगा छोटी चीजों का ही आवरण होता है और आवरण जो होता है वो हमेशा जिसको आवरण आवृत कर रहा है उससे बड़ा होता है ढक रहा है उसको ढक रहा है तो इससे बड़ा होगा वो तो आवरण तो सूक्ष्म चीज का ही होता है और परमात्मा अति सूक्ष्म है तो उसका आवरण कैसे नहीं हो सकता उसका अवश्य हो सकता है तो सूक्ष्म का अर्थ आप छोटा ले रहे हो छोटा सूक्ष्म का मतलब छोटा नहीं है वो परियागात सर्वत्र व्यापक है सर्वत्र फैला है इसलिए सूक्ष्म का छोटा अर्थ तो नहीं लेना है छोटा अर्थ लेंगे तो वो शंका आ सकती थी आपकी सर्वत्र व्यापक होते हुए भी फैला हुआ होते हुए भी वो सूक्ष्म है जैसे यहां पर प्रकाश आ रहा है कांच लगे हुए हैं तो भी प्रकाश आ रहा है क्योंकि वो कांच से सूक्ष्म है उसमें निकल जाता है रुकता नहीं है उससे और किरणें होती हैं सूक्ष्म जो कि इधर से उधर वेद जाती हैं पार कर जाती हैं इन एक्सरे भी ले लीजिए और भी दीवारों को भी पार कर जाएंगी हमारी पेटी अटैची में जो भी होता है जो यंत्र लगे रहते हैं मेट्रो पे या तो हवाई अड्डों पे अंदर की चीजें दिख जाती हैं या तो वैसे तो बंद था वो लेकिन वो उसको आवृत नहीं कर पाती कारण सूक्ष्म है वो अंदर तक प्रवेश करती है जब महर्षि ने बुद्धि का लिखा प्राणायाम से बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाती है मतलब वो गहरी जाकर के उसकी अंदर तक चली जाती है उसमें भेदन की क्षमता होती है उसको पार करने की उस जगह को बाधाएं उसको नहीं आ पाती बाधाएं बाधाएं नहीं होती हैं तो ये जो सारा संसार है इसमें विभिन्न बाधाएं हमें दिखाई दे सकती हैं ये इतनी बड़ी पृथ्वी इतनी मोटी एक मोटी दीवार की तरह से जैसे परमात्मा के लिए बाधक बन गई हो नहीं बन सकती लोहे की दीवार कुछ भी चीन की दीवार कुछ भी कितनी भी मोटी चीज हो परकोटा हो उसके लिए किसी तरह से आवरण नहीं बन सकता क्योंकि वो सूक्ष्म है उसका आना जाना यानी विद्यमानता कहीं खंडित नहीं होती है किसी दीवार के लगाने से वो आवृत नहीं हो जाता है और किसी दीवार के पीछे आकर के हम सुरक्षित नहीं हो जाते उससे कि परमात्मा यहां हमें नहीं देख रहा है गुफा में भी कहीं भी उस रूप में यहां पर अर्थ लेना होगा कि परमात्मा अति सूक्ष्म होने से ईश्वर का कोई आवरण नहीं हो सकता संभव ही नहीं है आवरण तीन बार ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा के उस स्वरूप को जिसे आज के स्तुति मंत्र में हमने समझा है रखते हुए ओम का उच्चारण ओ अंतरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शांतिराप शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शान्तिरेव शांति सामा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः उपश